वो कहने लगे हम बुतों की पूजा करते हैं लिहाजा हम हमेशा इन्हीं की पूजा पर जमे रहने वाले हैं